तो राजा इंदर इंद्रपुरी पुरी राजपाट करता करता हा तो राजा राज प्रजा चयन कोई बात रो सोच भी करनी हो नहीं हो राजा इंदरी सभा इंदरपुरी रमाय ने रोजी नारंग राग बाग रे शास्त्र मायने जुड़ती जुड़ती तो इंद्र रे मुड़ागे राजा इंद्री पुरिया नाचती तो हाँ। राजा इंदर वाने आप निजर नहीं देखता नहीं देखता एक दिन मन में विचार करियो कि ओ सिरदारा आज सभा मतलोग रे मायने चाल न पारो सभा जोड़ा और अखड़ो उठे ही लगावा लगावा तो आप सब सिरदार देख ने बोलिया के राजा आप री मेहरबानी वगैरह जो आप रो हुक्म में जो काम दो। काम करा काम कर हाँ। तो इंद्रपुरी मुँह है मतलोग में आए और मान सरोवर समुद्र के किनारे आप री सभा जुड़ाई जुड़ाई है सभा जुड़ाई तो राजा इंदर आप बटे गाना बजाना आपरी सभा में वेरिया है बीते मेरे मायने मान सरोवर राजा मान सिंह जी जका भाई साहब फुलवाद कंवर ब घूमने ने आप पधारिया पधारिया है बीते मेरा साते डावड़िया बेल फूलबेल चंपाबेल इलबली गिलबली ढोल फोड़ मक्या तोड़ माइता माडो जाड़ी मायता ने भाटा बावणी वह भी सात आई है डावड़िया कड़ी हूण गावरी होली जयपुरी दियाली बूमलारी बहन तूटो तारो भातरो नंगारो गमने बाजे पिछम ने डिग जाए पिछम ने बाजे उगमने डिग जाए डिग जावे ओ डिग जावे तो बायो बाजे चार टूक बजाए धनारी खुपरी में पानी पिए पेट दुकन मर जाए चावल सो टमाटो कावे तो आप रोहाए जावे हवनी तीजनी आ बारी बीजली पटकारियो फुंदो वजू अलू जोड़ो रसम वेजूं ठडारी मोजान वेजूं कोई टारो खांपो वेजूं मैगदारो मक्कियो वेजूं दूध पुली थरकन माल मालियोड़ो हिट्टो वजू आहा इंदरी अप्सरा वे बिखैत्रु भलो वे कलूरी काम वै जिन भात्री लाम लाम लाम लाम पधारिया है राजा इंदार मन में विचार करियो सिद्धारा ए कौन है और कौन नहीं आनी जांच करो निगे करो निगे करो बीच हमारे मायने राजा इंदर रा आदमी जाए ने बूझियो छोकरिया ए भाई साहब किरा है आहा क्यों साहब मान सरोवर समंदर है जकारा राजा राजा मान सिंह जी है जरा फुलाज कंवर बाईसा बाईसा है कहते कहते हुकम घूमने वास्ते वास्ते पधारिया पधारिया राजा इंद्रदेव ने बोलिया सिरदारा जाओ मान सरोवर सुंदरा राजा मान सिंह जी नट लेना हो आओ आओ तो इंद्रा सिरदार अपनी सातों गया है जाए और राजा मान सिंह जी मान सरोवर समदरा राजा ने उठे बुलाया बुलाया है कि मान सिंह जी फुलवाज कंवर भाई साहब खिरा हाँ क्यों राजा इंदर ये तो आपरी टाबर है हाँ आपकी लड़की है आपरी लड़की है और अटे घूमने वास्ते आ गया तो सब भी आपरी मेहरबानी है सब टाबर टूबर आप रही है हाँ, हाँ। क्यों राजा मान सिंह जी कह तो फुलवाज कंवर भाई साहब ने मने पढ़नाओ हो हाँ, के हवा पर झगड़ो करो और के बारे में एक माला लेने छिडू जकानो पानी डाबो देखो तीन चीज मु एक चीज रो वादो करो वादो कर लो पूरो पूरो राजा मान सिंह जी देख बोलिया राजा इंदर आप मारे माँ बाप हो भाई थो मैं आपका टब टुबरा कल मैं आपने ही बात रो बारे बजाने जवाब मैं मैं दे दे म्यानो दे दिया तो राजा मान सिंह जी पता आए और आप सब रहत ने पब्लिक ने भेड़ी करी क्यों रे भाई आज मान सरोवर समुद्री किनारे राजा इंद्र रो अखाड़ो लागेड़ो है राजा इंद्र तीन चीज रो सकलप दिलायो है के के तो हवापुर झगड़ो करो के बारे मेघ मारो पानी ढाबो और के आपरे फुलवाज कंवर भाई साहब है जगह ने पढ़ना पढ़ना अब बोलो कहीं करनो चाहिए कई चीज रो अपा प्रण देला प्रण देला जगह जवाब दो जवाब दो और अपा कई चीज आसानी अपा पूरी कर सका कर सका क्यों राजा इंदर હવા પર ઝઘડો કરા તો પણ ઝઘડો નહીં જલી જલી જની એક એક બીજળી પડે તો કેથાના આદમીને માર માર નાખે બારે મેઘમાળા લઈને પાણી ઓસરે તો અપ્પાને ચૂકતાને કઠીરા કઠી બેવાય દે પત્તો નહીં પડે પત્તો નહીં પડે ઈ બીચે તો અપ્પા કઈ હે કે ફુલવાજ કંવર ભાઈ સાહેબ રો કેવા તો બેટી બાપને ક્યાં ભણાવા તો અપ્પા અહીંયા કરા બારા વર્ષનો સુકાણો લિખાયેલા કે ભાઈ बारह वर्ष वो सूखा सुकानो माने लिख दो बारह वर्ष बरसात नहीं हुएगा नहीं हुएगा ए चीजा है ए तीन तो अपा नहीं डबा और बारह वर्ष वो सूखा सुकानो अपन लिखा है जय हो तो राजा आप मान सिंह जी आपरी रात ने बूझ राजा इंद्र कने आया आए और क्यों राजा इंद्र हवा पो झगड़ो नहीं करा बारी में एक मारा पानी नहीं डबे भाई साहब ने मैं को नहीं पढ़ना वहाँ बारह वर्ष वो सुकानो माने आप लिख दो लिख दे रहा हो तो राजा इंदर री આમનામાં આ कोप और बारह वर्षो सुकानो राजा मान सिंह जी मानसरोवर समदरा राजा ने लिख दियो जी लिख दियो है तो जमीन में हूँ आप नल खींच लिया और बेड़ा में पानी नहीं किया हाँ, हाँ। जमीन में नल खींचनू दरिया में पानी कम पड़ हाँ, कम पड़ गो कम पड़ गो हम्म। राजा मान सिंह जी देख ने बोलिया रानी साहब भाई साहब तो पेट दुख नहीं मर जावे जितना जानवर है दरियावरा मर जाई तो इतना अपराध कितो नहीं ત્યાં લાગજે ત્યાં લાગજે કયો રાજા હગળી પબ્લિક ની માંગે માને હે કે હગળી પબ્લિક માને કોની તો અપા દો જણાને કેવણું હા કાંઈ હારો લાગે देखो चार छह महीना बरसात में तंग वे ने आप ही वे हगला आए ने बातचीत करी थी टेम अपा राजा इंद्र ने क्या पहले अपा ने क्यों डालो की बटे हाँ बटे को नहीं नहीं तो बारह बरसो सुकानो आप राजा इंद्र लिख दियो बी टेम रे मायने हंसा एक ने बोलिया के अपाटे कई मोती कटू छूगा दरियाओं में पानी नहीं रेवे तो अपा ने तो दूसरा देश में चालनो छोको छोको है है कि अपा दूसरा देश में चालनो छोको है हंसे आप रे उठू उड़िया नरवर कोटरा राज रे मायने राजा नल पिंगल रानी पिंगल और राजा सिंह जी राज करे नरवर कोटरा राज रे मायने हन से दरियावरा सरोवर समुद्र राज को आए ने है है बी मायने राजा नरसिंह जी की ओर अंसा कटाराओ कियो सा मान सरोवर सुंदर रहा हाँ, हाँ और मारे देश से मायने बारह वर्ष राजा इंद्र कोप करने बारह वर्ष सुकाणो लिख दियो लिख दियो है वास्ते में आप रो सरनो लियो हाँ आप माने चार छह महीना दुख रे मायने की वर्तमान करो तो मैं आप री जय बोला हाँ, जय बोला और आप गुण गाऊ वी टेमरा राजा नरवर कोटरा नव आपरे नरवर कोटरा राजा है जेको आप वने अंसा ने डाबिया है डाबिया है नल सिंह जी ढाब कियो अंसा चूकता ने अटे जवाब चुगो दारो मैं प्रबंध करूं और थाने में की दखल नहीं पहुंचन दू बी टेमरा बे आप रे कहीं नरवर कोटरी राजधानी में रहे अंसारे वास्ते कहे ओ भाई जवाब चुगे खेता में चुगन दो अने कोई लगड़ा भाटारी री में कि यार नी ठोकनी हाँ। और दूसरे महीने आया है तुम्हारा दिन अच्छी तरह वर्तमान करा तो कोई दिन याद करी नामा कामा है बैरो पानो तलावरो खानो पींडिया ताई यादगार है जो कोई बिखार महीने कोई टाइम रखे कि अपानी सहायता करी अपनी मदद करी तो राजा नरसिंह जी रे उठे वे हंस रह रिया है चूक ने सामरा एक पिंजरा में राजा बढ़ाए देवे दिनरा जवाहर सुगन ने जावे और चार इंसान कियो थाने में चार ने मोती पूरु सकूं चार तो मारे कने रह जाओ तो मैं मोती थाने हां मोती मोती सुगाऊं थाने सुगाऊं हाँ। हगड़ा इंसान ने मोती सुगाऊं हां पार कोनी पड़े पार कोनी पड़े और इतना मोती मारे कने नहीं है कोई नहीं बीच हमरे मायने वे हंस आप रे उठे रहे और अड़ने दरियावरो पानी कम पड़ने लागो चार छह महीना विया बारह महीना विया दो वर्ष व्यान राजा रानी देख ने बोलिया अबे दरियावरे माई ने पानी खंच खाएगो है खाएगो है जानवर तड़बड़ ने मर जाई ई बीचे तो अपा एक भाई साहब ने पढ़ाउणु इतनी आत्मा बच जावे तो अपा ने कही है के वो इतनी दुरासी री तो अपा अपराध हाँ, अपराध लागे को नहीं और कही है के एक आत्मा ये कार ने इतनी जानवरों दिया जूनी आत्मा बच जाई बच जाई जरा राजा मान सिंह जी आप हैरान परेशान भई और राजा इंद्र ने सोना चांदी नाले आप भेज दिया है भेज दिया है तो राजा इंद्रदेव आप बरकरार सभा जुड़ी है अकनाकिंग जी पारिंग जी डूंगरिंग जी पर्वतिंग जी दोलिंग जी तेजिंग जी होमिंग जी भोमिंग जी पाव का देर का धूड़ का धक्का का अली खां बली खां पंचरी का कादर खां फजूल खां महमद का गोरी का सुल्तान का भरावियोड़ा है बीटे मेरे मायने सोना चांदीरा नाले डिजाइने राजा इंद्र मुंडा के सुप्रत मेल दिया है सुप्रत करिया है बीटे मेरे मायने राजा इंदर एक दिन एकदम आप हंसिया देखो सिरदरा फुलवाद कंवर भाई साहब रासावा छेवट नाली रप्पा ने कन्या आया आएगा है इतना दिन नहीं भेजिया पान छेवट आखिर मायने भेजना हाँ काया वेपरार दुख पार अब आया है आया है तो राजा इंदर ही बड़ा आप खुश हुआ है और देखियो फुलवाद कंवर भाई साहब रे साथ तो ब्याह वो कर करा तो ने सावा भेज दिया तो पाची आप बरसात ओसनो चलू वेगी है और बादरा पाकने लागा और बड़ो आप रे कही है कि कोई बात नहीं <clears throat> कमी नहीं रही हाँ। राजा आप मान सिंह जी कागज लिखो रे अंसा अपने टे बरसात शुरू वेगी है राजा इंद्र बटे साहब आप नाले अपा सोना चांदिया भेज दिया भाई साहब री सगाई कर दिया ದಟ್ಟೆವೆವು ಅನ್ಸ ದಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಾನಸರೋವರ मान पधार जाजो पदार्थ जाजो पदार्थ बीते मेरे मायने हंस देखने बोलिया राजा मारे कागज आया है आप मारो दुख कटायो तो एक चीज मैं आपने दीवान नरवर कोट राजा नल सिंह जी ने कहे नल सिंह जी की ओर हंसा थे मने कई चीज देव देव क्यों एक हंस नारियल मंगान क्यों एक आप नारियल झेलो क्यों कानो मानसरोवर सुंदर राजा है जकारे मान सिंह जी राजा માનસિંહજી રાજા દેખાને બાઈ સાહેબ ફુલવાજ કંવર દેખાની સગાઈ મેં આપરેટ કરા કરા હંસાને ઠાની ही तो राजा मान सिंह जी तो राजा इंद्र उठे इंद्रपुरी में सगाई कर दी भाई साहब री और हंस है नरवर कोटरा राजा सिंह जी रे उठे सगाई कर दी रंग छांटना हंसा ने ऊपरे नाक दिया अच्छी तरह लापसी चावल जिमा दिया हंसा ने बड़ी आप कुछ पाची सीख दी हंस उठूं नरवर कोट की राजधानी में उड़िया पाचा मानसरोवर समुद्र रे आप उपरे आया तो राजा मान सिंह जी की ओर हंसा रंग नाचोड़ो ऊपरे कहीं करना आया आते कहीं गोदम कर आया हो कहीं करना आया हो कियो साहब फुलवाद कंवर भाई साहब है जकानी सगाई कर दी आहा अरे बेटिया बापा जुल्म कर दिया मैं तो भाई साहब री सगाई राजा इंद्र ने उठे कर दी थे सगाई कटे करिया क्यों नरवर कोट रा राजा नर सिंह जी माने दुख वर्तमान કહે મારો દુઃખ કટાયો और माने सोरा रा किया ई वास्ते भाई साहब री सगाई नरवर कोठरा राजा रे उठ कर दी हां हाँ। क्यों जुल्म बात है राजा इंदर आगे बारह बरसो सुकाणो लिखियो अबे के वा नल जी रे उठे सगाई कर दी तो रीसा बोल तो 24 बरसो लिख दे हां लिख दे फिर धनी रो धनी कौन हाँ कौन है राजा जोगी गन जल जारी उल्टी रीत रीत जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत प्रीत हो प्रीत बाढ़ रीति खेतरे बाढ़ खेतने खाए राजा डंडे पर्दा ने तो वह कूक किना कर जाए जाए ठग ठाकर ने चोटो सगो जमाई धीव इतना तो दूरा भला तासो निपावे जीव जीव ठाकुर द्वारो पंडिता खेत पूत पिरवार इतना तो नैड़ा भला काम पड़े सोवार सोवारी काम पड़े तो वे नेरा काम देवे वो टाइम रे मायने ए आपरे देखने बोलिया साहब पन्नी जी राजा नरवर कोटरा राजा भाई साहब ने पन्नी जी जरा क्यों रे राजा इंद्र ने पहली कह दे वो पचे हागे दिन जान दो आएगी तो भाई साहब तो एक जाना दो हजार किया ने पुनावान किया ने कमारा हाँ, राख कमारो राख हाँ टाइम रे मायने कही है ए आप रे राजा मान सिंह जी रा आदमी जान क्यों राजा इंदर भाई साहब ਦੀ सगाई आप रहते ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पर नरवर कोट ਰਾਜਾ ਨਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੀ ਜਨ ਨੇ ਆਵੇਲਾ ਆਵੇਲਾ ਸਗਾਈ ਉਠਾਈ ਕਰਦੀਆਂ बी भी टेमरा राजा इंदर एक दिन एकदम आप को प्यार कियो कई बात है <coughs> पहली सोना चंद्रिया नालेर मारे टे भेजिया और हाँ, दूधी टोड़ा क्यों दूधी टोड़ा सगाई नरवर कोटरा राजा रे उठे ज्ञान कर दी भी हाँ। टेमरा राजा इंदर आप कोप और कहीं राजा नल सिंह जी नरवर कोटरा राजा रे खन गया जी क्यों नल जी मारी मांग पड़नी जो कितनी ताकत है थाने माई ने बताओ बताओ के तो सवा पोर झगड़ो झेलो के बारे में एक मारा पानी ढेबो पानी डाबो के बारह बरस बरसू कोनी जगह सुकानो डाबो वाह वाह अरे के भाई साहब ने पढ़नी जो कई चीज आप चार चीज मुँह एक चीज दे लो क्यों साहब काल में आपने ये बात हाँ, जवाब दे नल जी आपरी नरवर कोटरी राजधानी ने सब आदमियों ने भेड़ा किया हाँ, हाँ। कियो भाई भांग पीबो हो रही है लहरा लेबो दोरी है दोरी है ए वाना भाई जीरा नाले तो जेलिया हाँ। जालो रिहान रा करे जी होट करने बींदनी फुलवाद कंवर पन्नी जावा फुलवाद कंवर इंद्री अफसरा वे पुंगली पदमणी वे बिखाइत्रो भालो वे कलूरी काम वे दिन भातरी निकले जरा बी टेमरा रा बीजरी लागे जी हलिको लागे लागे हो लागे बेड़ा वाने पन्नी जणो और है घणो अबको है और बोलो सिरदारा कई करनो सही है नरवर कोट राजधानी वाला आदमी देखने बोलिया राजा नर सिंह जी पन्नी छोड़दा मांग नहीं छूटे छूटे को नहीं और फुलवाज कंवर भाई साहब ने तो आपने पनावा आहा कि अरे बेटिया बापा पनी जणो अब को है और बोटे अपा इंदर हूं झगड़ो झेल नहीं अपा हाँ, अब इते आपने पुरुषार्थ को है कोनी है हम्म। कि वो झगड़ो झेला बे कई जको बात कायम करा और हिंदू मरे जटे ही हद है मर्दा मर्दा मरनो हक है अगर सा माय मेला रोवे कामणी पच मित्र तया माय मायो मरनो तो भरदवानी रोई है हाँ, बूढ़ापा में तो ਪਾਕਾ ਪਾਣਾ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਚਾਰਾ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਬੜਾਇਆ ਚਾਲਤੀ ਗੋਡੀ ਜਾਥਰੀਆ ਆਹਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਨੇ ਤੋ ਸਰਾਵੇ ਹਾਂ ਸਰਾਵੇ ਸਰਾਵੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਜਟੀ ਹੱਦ ਹੈ વીંદણી ને કારણે મરદામાં વેરી કોઈ વાત નહીં પણ અપાને હટગાઈ કર્યોડી દૂજો પણ નહીં શકે કાંઈ કાંઈ બી ટેમ રે માયને રાજા ઇન્દર આપ બટ આયને કયો બોલો ભાઈ કાંઈ ચીજ રો વાદો કરો હા જોકો બતાવો બતાવો એ દેખને બોલ્યા સાહેબ हवा हवापोर झगड़ो मानो नहीं जली जी हाँ और जेली तो कौन है अब को है अब को है हवापोर में ही माने था तो हंगा ने मारना हाँ, खत्म कर दो खत्म कर दो और बारे में एक मारा पानी मारूनी डबे डबे को फुलवाद कंवर भाई साहब माने सगाई कर दीवा ने जरूर पनीदनो है माने बारह बरसो सुकानो लिख दो लिख दो लिख तो बारह बरसो सुकानो राजा इंदर नरवर कोटा राजा नल सिंह जी ने आप लिख दियो है लिख दियो जमीन रा नल खींच लिया बेरा में पानी कम पड़गा और चार छह महीना ने बेरा सूखना ना आपरे हाँ, खनखन करे है खनखन करे बी टेमरे रे मायने राजा नल सिंह जी और रानी पिंगार आपरी राजधानी ने नमस्कार किया राजा नल सिंह जी आहा नमस्कार करिया के नल पिंगल बिखो पड़ो ऊठा कसिया भार बारो बार जीवता रे वातो आण मिलाला नरवर कोट दवार नल पिंगल बिखो पड़ो ऊठा जो कसिया भार बारो बार जीवता रे वातो आण मिलाला नरवर कोट दवार जवार नरवर गढ़रा कोट कांगड़ा ने आपरी राजधानी ने नमस्कार करिया क्यों जीव तो रिया तो पाचाई ही राजगादी ऊपर फरू आने बैठा ला नित्र आज ये छेला रामा समा हाँ मारा मान लीजो मान लीजो और अबे तो सामरियो सन्मुख है तो हमारा वो अनेक नर चित्ती रीति रही हर चित्ती हो तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान काबा लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण वही बाण धन पलटियो धरा पलटी पलटी हाथ कमान किशो दोष पृथ्वीराज में जीरो दिन पलटियो समान समान हो समान हिरण खुरी दो आंगली धरती लाख पसार लिखिया भाक्या नहीं टले वही पासा वही पासा ભાવ બે सो સો હલિક્યા लिख लिख घल्या अंक तिल गटन कोई राई बदे रे रे जीव निसंग इतनी बात कहे और राजा नरसिंह जी आपका ऊंट ने ले और आप वीर भी आए ऊंट ने लेने आप सामान ऊपरे घाल दियो ऊंट रे ऊपरे वीर भी आए ऊंट दो से एक पौंडा घियो और चाल तो चाल तो ठोकर खाए ने पड़ियो तो लंका जी हम मुंडो कर दियो है राजा रानी मन में विचार करियो थारी मादड़ू थारी बिको पड़े जरा फोरो क्यों पड़े हाँ चारू मेरू पड़े ऊंट उपरे समान घालियोड़ो साते साते पकड़िया बहता अब राजा रानी शेर शेर सोनो पैरता मोतिया मरती बाहर घड़िया के झोलो बाजियो गरगरी पिणिया पिणिया देखो कि ठा पड़े दुख शुक्राई जोड़ा है देखो अब बोलो ऊंट जो कोई काम में आए हाँ काम में आएगो बाहर लिया फिर तो जो कोई बाहर लिया फिर तो अब वो सामान छान ले हाँ, माता पर किया बंद हमें और आज अपन कही है के राजधानी या धनिया मुंडा के अपने नौकर चाकर मोखला ही रेवता है जकरा हो अपन खने लेने चाला तो हाँ, कहीं तो बूंदी लागी लोग, लोग दुनिया कहीं के कहीं के पर समय बड़ी बलवान है हाँ, राजा रानी खास खास चीजा जो आप कई करियो बांध बांध पुटुकड़ियान मोना लारे ऊंची है है राजा रानी वीर वेगा अब कोई ने आनी के वे भूखा तिरसा वे कदई मनमन आटो वाले घरे पहुंच जाए मुंडा के सैकड़ों आदमी राजान खजान रा खारखाना आप रे वड़ाई चालता हाँ दूसरा जी मैं तो वे किरा घरों मांग हां मांगे किने घरों मांगे कोनी हाँ। तीन तीन दिन वेगा भूखा तिरसा बहरिया है बता बता एक तलाव आयो तड़ा भाई ओवी टेमरे मायने कोई ढोल बांकिया बाज यार क्यों के राजा साहब रानी साहब फुरमाई वाटे कहीं है माया साहब क्यों रानी साहब कोई मोटो गांव है तो कोई ब्याह साहब ब्याह साहब दिस है कोई दिस है हाँ। क्यों थे आप जाओ आप जाओ जे कोई आपने कहे कि जीम लो तो आज तीन तीन दिन रा भूखा हाँ, हाँ। आप जिम ले और की मारे वास्ते लिया हो तो अंजल पानी हाँ थोड़ा नाश्ता तो कर ले कर लेवा हाँ। तड़ाव भरियो है और आपकी जिम लिया हो तो आप खाए पीने तू हो रहा हो रहा तो राजा साहब देखने बोलिया रानी मारी बंदूक दो बंदूक ले और दो तीतर पानी पीने आया बीटे मेरा बंदूक भाई दो तीतरा ने राजा मार लिया नर सिंह जी मार लिया रानी साहब ने क्यों आप आने खीरा पर रख दो और मैं गांव में जाऊं कि सीरो सी की वही जो कोई की लेने आऊं तो रानी तीतरा ने आप खीरा पर सेक ली है बीटे अमरे मैंने नरसिंह जी गांव में गया और दाता ही आप रामा सामा क्रियार क्यों पधारो ठाक साहब किया गांव रहो क्यों मैं नरवर कोट की राजधानी रहूंगा हाँ, हाँ। आप रो नाम क्यों मार नाम नर सिंह है आने कियो कि भाई मैं गांव रो राजा हूं राजा हूं देख क्यों कह वहां राजा हां तो कही गया हाँ, सामग्री का ही है तारे हाथ में क्यों मैं एक छुट बया में हूँ नर, नरवर कोटरी राजधानी रो क्यों आप जिम लो क्यों मैं कहीं जिमू मारे साथ जनाना सिरदार और भी हाँ और भी है हमारे साथ क्यों आप ले जाओ जावटू लापसी हाँ। तो पनातरा देन राजा साहब ने काफी लापसी गाल दी जी हाँ लापसी लेना आप बीर गया चालता चालता ठोकर लागी लापसी नीचे डूल गई और भी लापसी रा जितना रूणा जितना ही वह कीड़ा बन गया कीड़ा बन गया और अड़ने तीतर हा जकार पांकड़िया आए ने रानी साहब को नु तड़ावरी पाल पर तीतर उड़ गया उड़ गया है उड़ गया राजा साहब पाच आया रानी साहब बूझियो के राजा साहब की लाया कोनी हाँ। क्यों रानी साहब लापसी गाली મૂકો ઘણો હતો મેં તો લાભથી ગેલામી જીમ જીમ ગો કયો તિત્ર આની અટે કયો રાજા સાહેબ તિત્રી મેં ભૂકા મરતી આપ કયો બટી જીમ કા તો મને ભૂખ લાગી તો હું मैं तो जिम हाँ, જીમ हाँ। अब राजा साहब भी भूखा रानी साहब भी भूखा जरा क्यों आप लाभ से जिम ना याद पानी पीला तो पानी पिए दो तीन गुटका में बुता लीजिए कोनी तीन तीन दिन आया चार चार दिन आया भूखा रहेगा हाँ, पानी कहीं जी में कहीं जी में पानी पिए क्या तो माडानी आई डोलियो और दूटा हाथा पानी पिया तो रानी साहब तो देखे कि लापसी जीम ना यार राजा साहब देख के रानी साहब तित्र जीम लिया बेला तित्र भी उठ गया लापसी डोलने वे हाँ कीड़ा बन गया कीड़ा बन दोनों बीर वेगा जावता जावता है अड़बड़ा है बड़गड़ा ठेकारा बड़गड़ा धरबदला धरकोसा आगला धर्मरा बायला पापरा घड़िया है जा रिया है तो एक गांव आयो जट एक तेली गाणी खड़े ओ आप रे कहीं धूलो बाबो तेली गाणी खड़े की और ये धूला बाबा माने नौकर नहीं राख ले भाई हाँ तारे मजदूरी करा मुंडा मजदूरी करा क्यों नौकर राख लूं थारो नाम क्यों मारो नाम नल सिंह है हाँ, हाँ। क्यों नल सिंह बलद ने पानी पावे घाणी पुगावे कोयरी घाणी लावे आ मारी लुगाई है जगह मुंडा आगे थारे आ साथ है जो रोटियां पोवे हाँ तो नौकरी रख हाँ तो, तो मैं नौकर राख लूं राख लूं नितर आगे जाओ भाई थाने कटी और कोई रे हाँ और कटी ठाणे लागो भले जरा राजा साहब रानी साहब देख क्यों रहो है हाँ। रहो अपा टे ने देखा तुलबुल में बैठी तो रह वादू जो अपा टू बीर विदाम तो रिया थोड़ा दिन रहता रहता दिन वर्तमान हुआ अड़ने वो कहीं है धूलो बाबो तेली वाने बिना कदर बतलावे वाह वाह बिना कदर बतलावे भी टेम ने सिंह सिंह ने रिकारा जी हाँ, गाल है तो आप रानी साहब देख ने बोलिया राजा साहब बिना नौकरी रजानो बिना कदर नहीं रहो हाँ। है के बिना नौकरी कोई उमड़ा के रजानो बिना कदर नहीं रहो नहीं रहो आज रात रो है देखो हर जाई और हाँ, मुंडा को बोले बोले और शायद का सवाल के वे तो सोनारो कटारो वे तो पेट आ, हाँ, में पेट में मारने को थोड़ा ही है थोड़ा ही वे ये हम्म। नौकरी बिच दिया ही सोक तो राजा साहब और रानी साहब की और ये तेली बाबा मैं तो धारे अब इतना ही रहा કયો મેં ગળાની દાબકો હું તારી મરજી વેદને જાઉં हाँ जाओ बोले जाओ पर बे आप रे राजा साहब और रानी साहब दोनों ही बटू वीर विया है जावता जावता पुंगल गडरी राजधानी आई पुंगल गडरी राजधानी रे मायने उठे एक चौधरी जाट रेवता जका ने पोल देखने में जाने डिबिया क्यों आप पोल क्यों चौधरी बाबा री है चौधरी बाबा हूँ रमा समा क्रियान क्यों सिरदारा पधारो पधारो पधारो आओ विराजो हाँ अटे माला फेरो दो टाइम स्नान करो रोटी आ चितरू जिमो वो आप रो घर है अरे छोकरी मारी है तान मान रहे हो खूब मजा करो आनंद करो आपने की धंधो बाड़ी करनी जरूरत कौन कौन है हो कौन है रिया पांच सात दिन वर्तमान हुआ राजा साहब ने आप रानी साहब फरमायो की और राजा साहब बिना अपा यही की धंधो क्रिया बिना रोटियां खावनी भेजा हाँ भेजा है अपा ने घरी रोटियां खावा की की नर ने हर एक हुनर करनो थई हाँ, जाए नर ने की पुरुषार्थ आ हाँ, पुरुषार्थ करने जाए जे पुरुषार्थ करनो थई जाए कर रोटियां जी मात तो अपन नो जीवन में मजा ठीक है ने है तो बस ठीक लागे कोन ठीक नहीं लागे हम्म। तो आप कहीं है राजा साहब देखने बोलिया चौधरी बाबा मने अटे गांव रा ठग साहब कने तू चौधरी है न्याय तोड़ने जावे पंच पंचायती में माने वार सत्य कटे रखा है हां रखा है देखने एक वान कने रखा है दो और माने जो रुपया तिनका दे ही कहूँ मारो पेट गुजरान खा हाँ हो रो करो मैं क्यों अठी बाजरी परमात्मा महादेव बाबू घनी दी है जिमो थाने नौकरी कन करनो कहीं क्यों नहीं चौधरी बाबा नौकरी करिया मीना माने रंजत नहीं है हाँ हवे कोनी हवे कोनी भी टेम रे मायने कहीं है चौधरी बाबू नल सिंह जी ने आप राजा साहब रे मुंडा गई पुंगल के राजा रे ने नौकर रखा दिया रखा दिया है नौकर रखा दिया तो नौकर रह दिया है तो और नहीं रानी साहब नर सिंह जी रानी पिंगल देख ने बोलिया जिस दिन राजा कहे का शिकार चालनो है बीस दिन आप मैंने एक दिन पहले इतला करेला राजा के काल शिकार चला बीस दिन मैंने कह दी जो शिकार की बात करी हाँ तो मैं भाई रुझाऊ आप पहली कह दीजो इतो बात हो जरा क्यों ठीक है मीनो दो मीना विया और राजा साहब लहर मेहरा सौदा है देखने बोलिया सिरदारा सब आप तलवार बंदूक बलम ढाल तीर कमान भाला बर्छी तैयार करो काल शिकार चालला और घोड़ा है फटा फुंडा उठने निंगोट जगह ने तैयार करो और आने दाना आना देवर आप कहीं काल शिकार चालनो है आहा तो घोड़ा है ने आप दाना पानी खूब अच्छी तरह आपने दिखाई दिया है दाना दिखाई दिया है और कागलिया कृष्णा मुका पागला उदयपुरा थोड़ा तैयार भी है सुबह की टाइम भी है सिंदूरिया फूटा है मोर पपड़िया बोल रिया है कोयला टवका दरी है झंझनी राग भरी है गदरा फदरा नी बगत हुई है ਵੀ ਟਮਰਾ ਅਮਲ ਅਮਲ ਆਪ ਲਿਓ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਤੂੰ ਦਮਾ ਦਿਆ ਤੋ ਵੀ ਨਿਸੰਦਾ ਸੈਣ ਸੈਣ ਹੋ ਸਹਿਣ ਬਿਨਾ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਆਵੜੇ ਪਤ ਬਿਲ ਖਾਈ ਲਾਗੇ ਨੈ ਸਹਿਣ ਅਮਲ ਤੂੰ ਦਮਾ ਦਿਆ ਤੋ ਵੀ ਨਿਸੰਦਾ ਸੈਣ ਸਹਿਣ ਥਾ ਬਿਨਾ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਆਵੜੇ ਪਤ ਬਿਲ ਖਾਈ ਲਾਗੇ ਨੈ ਸਹਿਣ ਗੱਡ ਦੋੜਨ ਗੋਲਾ ਗਿਲਣ ਹਾਤੀਆਂ ਦੇਣ ਹਮਲ तिण बिलिया तू आवजे रुड़ाई मिंत्रा मल गड तोड़न गोला गिलन हाथियां दन हमल अमल तिण बिलिया तू आवजे पुत रुड़ाई मिंत्र अमल अमल टीका पान रा डोडो घणो सुगट सुगट गाल गरणिया सी जद माचे गगट टीका पान रा डोडो घणो सुगट सुगट गाल गरणिया सी जद माचे गगट गगट ओ गगट पीड़ारी नार ऊंची चड चक चक करे ਤੂੰ ਧਾਰਾ ਨੇਪਾਲ ਮਾਰਾ ਰੇ ਪਿਆਈ ਸਰੇ ਸਰੇ ਹੋ ਸਰੇ ਜਾਰੀ ਨਾਲ ਉਂਚੀ ਤੜ ਚਕ ਚਕ ਕਰੇ ਤੂੰ ਧਾਰਾ ਨੇਪਾਲ ਮਾਰਾ ਰੇ ਪਿਆਈ ਪਿਆਈ ਸਰੇ ਮਾਵੋਕ ਮਿਲ ਜਾ ਤੋ ਪਚ ਬੰਦੜੋ ਵਿੜੋ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਹੋ ਫਿਰੇ तो अमल कई मतवाव नशो है बराबर खानो खुराक मिले जनास तो मतवाव नशो ही है और बराबर खानो खुराक नहीं मिले और घर में नादारी वेवे जरा नाक धरे नश निकले करे डोडा खेंकरा आहा मैं तने पिया बरजियो मथी पियो तिजारा नाक धरे नश निकले करे डोडा खेंकरा शंकर आओ मैं तने पिया भरजियो मथी पियो तिजारा तीजरा કે અમલ લેવણો શીખ गा बैठ सभा में आगा आगा કે गोडा गल ने पिंडिया गल की लहरा लेवण लगा के अमल लेवणो सीख गा बैठ सभा में आगा आगा हो के आगा गोडा गल ने पिंडिया गल की लहरा लेवण लगा क्या अमलदारी मौज ला रहे मां क्यारी फौज फौज क्या पीऊ लाए नार साए जू मार अमलदारी मौज ला रहे मां क्यारी फौज फौज क्या पीऊ लाए नार साए जू मार जो को नादारी वे घर रे माए ने जरास तो अमलदार ने कही है हां ठेर धरती रे नाक ठिक जावे ठिक जावे और कमजोर पड़ जावे और कही है के थकाए देवे आहा तो और ने आप राजा साहब हुक्म दियो कि ओ सीधा अमल अमल ले लिया क्यों हाँ साहब क्यों अब बत्तीस आना तैतीस भोजन बिलाडारा बाजू सोसनिया दाल फागणिया फलका भीलवडारा कलसिया तैयार कराओ ओहो भेगा भेगा भेगा तो यार थार जिम रिया है थारा जिम और क्यों हाथ नंगारा नोपता क्या हो के नंगारा बाजे बार बाजे हो तो नंगारो नंगारा नोपता तड़ा धिंग तड़ा धिंग तड़ा धिंग दाल बाटी मालपान ऊपर की नंगारा नोपता बाजने बाजने लागी है बाजने लग जाए भी टेमरे मायने सूर तो नींद में सुतो और भूनन पोरा देवती कसूरा सुता नींद में भूनन पोरा दे देत उठो पीऊ निंदाल का पचतुरी हमें डाले सूरा सुता नींद में भूनन पोरा दे दे तो दे उठो पीऊ निंदाल का पचतुरी हमें डाले लेत जिया बींद तोरण बांधने ने आवे है यहाँ अपने ऊपर फौज आ रही है और शस्त्र पाती हूँ शस्त्र ने आया है और फौज अनाप आ रही है बीटे मेरे मायने सूरो देखने बोलियो के भूनार नंगारा बजावे नंगारा वाला वाला बाप बजावता पालिया देख आपने हरे रह गए रजने के दाता के सूर सूर मित्र रजा बांधड़ी कने घमावे नूर नूर नूर सहल सूर ने बाविए सामी झले के गिदड़ को क्या बाविए बाल गांटरी जा जाए जाए ए बुनर मारा तो भला मारा मोर है सहल मैं जलूला और गिदड़ वे फोरो पत्रो कायर वे कमजोर वे वो कहीं सहल झेल हाँ कहीं झेल सके <coughs> कोई परवाह मत कर चिंता ही मत करो चिंता ही मत करो फौज छिड़ने आएगी तो आए को नहीं कि फौजा दल बादल छिड़की देख सकी बरसान तू है बिच कने गऊ गाजरी आचार फौजा दल बादल छिड़की देख सकी बरसान बरसानो बरसान तू अपरा बिच कने गऊ गाजरी आचार साल मेर तारिया आदरियास गोइनगढ़ पिसंगन रास बाबरा समेल बूटी बिराटिया हाजी धूलकोट रायपुर निम्बाज कालू के की नड़ा गांव में ले जापरी आ जापरी तो यार गुजर हो रो भाई गुजर भाई मक्या खाई चिना खाई बेटरी बाप अट्टे लेने हगड़ाई भलाई भागवत ने हगड़ाई भलाई क्यों मरो हाँ हगड़ा क्यों मरा यहाँ पे हगड़ा नहीं हंदे बैंकुट मेल दे राजा है पुंगलगढ़ रो और एक नहीं छोड़े कोई मुन्नन देख ने बोली पतिदेव मैं आगे जाती हूँ मैंने कहीं ठाप पड़े के मारो पति हाँ, है है या नहीं है मैं ही नहीं जरा देख लू आ क्या देखी हाथी परशुराम कभी नहीं झूठी हो तो आप अन्य राजा पुंगल गढ़ आया है बाहर रहो आप नंगाला बाज रिया है घोड़ा घूमर घाल तोड़ा आ रिया है बीटे मेरा राजा पुंगल गढ़ देखने बोलिया सिद्धारा मुंडन और बिचिया ने कोई घात नहीं करेला हाँ, नहीं करे एक सूर सुतो है और ये बात नींद में जिते ही ऊपर बाह नहीं कराला वो जाग जावे हम हमें भी टेमरा बाह करनी है और भी टेमरा आप पारो रसपूती पड़ो इन्हें बताओ हाँ बताओ जरूरी है नींद में सुतोड़ा ने हाँ, अचेत है नहीं छेड़नो ना क्यों भूनन हूड़ने जगाए दे माने व्यवहार व्यवहार ਪੁੰਗਲ ਗੜਰਾ ਰਾਜਵੀ ਖਡਾਰੀਆ ਆਇ ਭੁੰਨਣ ਹੂਨੇ ਜਗਾਇ ਦੇ ਮਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪੁੰਗਲ ਗੜਰਾ ਰਾਜਵੀ ਖਡਾਰੀਆ ਆਇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੁੰਨਣ अब तारापति ने जगा दे जी टेमरे माई ने आप के भूनण हूर ने जगा दे माने व्यवहार તારા મારા ધણીરો દેકા જુદ ગમસાન મુનણ હુરને જગાય દે મને વેવે અમાર તારા મારા ધણીરો દેકા જુદ ગમસાન અબે જોનારે લડાઈ વેવે મારો ધણી તો પુંગલ ગઢરો રાજા હે થારો ધણીઓ સૂર સૂતો જકો હે તારા મારા ધણીને દોનાની ભેળા કર દે મારો ધણી હારે થારો ધણી હારે જકાની માં જુદ લડાઈ દે લેવા બી ટેમ રે મને ભૂનાટ દેખને બોલી પતિદેવ नींद अब काचीन पाकी लीजती घणी न बूड दो हा क खोड़ा हूर खाबड़े हा क खोड़ा हूर खाबड़े नात साया जाय जाय गरे जाय ने पोमावसी साक बरो बंदराय खोड़ा हूर खाबड़े नात साया जाय जाय ओ जाय गरे जाय ने पोमावसी साक बरो बंदराय बंदराय हे बुनार ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤੇ ਕੇਸਰ ਬੁਆ ਰੰਜਨ ਨੇ ਲਾਗੀ ਤਿਰਨਾ ਤਿਰਨਾ ਲੈ ਖੜੂ ਬਾਸੂ ਕਿਆ ਜਨ ਨਹੀਂ ਡੰਕਿਆ ਹਿਰਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤੇ ਕੇਸਰ ਬੁਆ ਰੰਜਨ ਨੇ ਲਾਗੀ ਤਿਰਨਾ ਤਿਰਨਾ ਹੋ ਤਿਰਨਾ ਲੈ ਖੜੂ ਬਾਸੂ ਕਿਆ ਜਨ ਨਹੀਂ ਡੰਕਿਆ ਹਿਰਣਾ ਹਿਰਣਾ ਨਵਤੋ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਵੀਰੇ ਪਗਾਨੀ ਰੇਤ ਕੋਈ ਘਾਸ ਉਪਰੇ ਪੜ ਜਾਵੇ विने गाय भैंस हिरण कोई जानवर वीरा पगानी रंज रेत लाई जोड़ी ने नहीं खा नहीं खा सके ओए नव तासिंग उबारे जकारे बिचे जाए ने पानी सूपरी सूरी इति त्राप है सूरी इति त्राप है के नव तासिंग रे बिचे जाए ने पानी पी सकू हाँ। और नव तो सिंह दो हूर उबावे तो खने आए ने पानी नहीं पानी पी सके आगो पाचो ही पिएला बाकी सूर्य खने पानी नहीं पी हाँ नहीं पी सके जानी जिन्हें तो ऐसा जिन्हें जैसे दुर्गा दास मार मंडा सो ढाबियो बिन थम्बा आकाश दुर्गा आश करण रा निठुट बागा जाय अमल औरंगा उतरे पछ दिल्ली धड़का खा खायो खा दुर्गा दास जी महाराज विया देखो दिल्ली रा बादशाह रो कहीं है ठंडा कापता के जद कदी राज कोसली हाँ। औरंगजेब देख तो दुर्गा दास जी ने जी टेमरा अमल लियोड़ो अमल उतर जा तो दुर्गा हाँ। दास जी ने देखता जा तो बड़ा बड़ा सूरबीर हुआ हाँ। तो तू मनरे मायने काची मतला और फौज આઈએ તો આપવાનું કંઈ બી કરે હા કઈ हाथ નહીં आवे कहीं हाथ नहीं आवे કે तो डावड़िया लसन सोले ગરમ मसाला बांटे हांडी पर ऊंधी ढकनिया दे देवे के पांच दस बीस ने मारना कुछ हाथ हाथ घूंगटा दिन महल में रनकता ले तो कोई एकदम है तो को शुरू हो जावे के तो गया ने लामी फहराए दू के मने फहराए दी कोई बात नहीं चिंता मत कर साथी अड्डा तवा दिन हाटी छाती राख जिते ही राजा साहब देखने बोलिया सिद्धर हाँ भूनन ने को अब पति ने जगावे आहा अब हाँ, भूनन सूर ने जगायो सूर उठियो उठता ही कोई है फोरा पतरा जको तो तलवार बंदूक बलम ढाल तीर कमान भाला बरसी आता ने मायनू पहली पटक दिया है हूर एकदम उठियो उठ और आप रे कहीं उठूं आप वीर भी है तो हवन बाद वारो हुआ मोरिया बोलता हुआ चिड़िया सचार करती हुआ तारो टूटे हुए जो पटकारा दिया मेरे मायने किताक तो थोड़ा पतला दुजन ने लाग लागा है ओ निकलता ही राजा साहब रो घोड़ो जका ने खने वेनी निकलियो कियो निकला जरा धनी रे खने वेनी निकला आटा रा खाऊ तो घना ही उबा हां मोगला है मोगला है फुलारा साथी बाटिया का जोर मोगला ही है और हाँ, हाँ। मरा तो मोटा हाथ तू मारा तीरा हाथ तू मारा तीरा हाँ। खनु निकला ए फोला पतला खनु निकला ही कहीं हाँ कहीं निकला है बीट हमरा फूर भरदवानी में आओ आप तो कहीं है दो दांत लंबा और दांत लीरो तीरो हुर आप घोड़ा रे ठोक्यो है घोड़ा रे तीरो ठोकता है घोड़ो राजा साहब रो एकदम मुठसागत खाए नहीं पड़ गो और हुर उठे हुए आप निकल निकल गयो है राजा साहब देखने बोलिया सिरदारा हाँ, और हुर निकल गो क्यों दूजो घोड़ो लेन पधारो दूजो घोड़ो लियो आप राजा साहब सूर्य लाल जा रिया है तो हुर भी से एक पाउंडा ओ आपरे हैड बड़ा है बड़गड़ा ठेकारा बड़गड़ा ध्रुवजला धरकुसा आगला धमरा पायला पापरा खड़ दिया है राजा साहब रो घोड़ो जावे थोड़ी दूर भाटा हुरा पगाऊ खड़ बार खड़ बार खड़ बार खड़ बार खड़ बार बाजिया जीते राजा साहब ने जोर रियो और हुरा टीटी डूंगरा में वनस्पति में होटल गो बी टेमरा राजा साहब रा बांग दतुरा चढ़स नशा पता हगड़ाई हाथे उतर गया है राजा साहब एक दरखत रे नीचे बैठा और नहीं नरसिंह जी नरसिंह जी नल कोटरा आप नरवर कोटरा राजा बेवाने खने आया आहा क्यों राजा साहब कई बात हुई क्यों नल सिंह जी अमली उतर गो हूर आते आयो को कोनी और होका पीउनी मन में आएगी हाँ। तिरस लागी भूख लागी हगड़ा ही नशा बताओ उतर गया है क्यों कोई बात नहीं चिंता मत करो रानी पिंगल नल सिंह जी होशियारा नरवर कोटरी राजधानी रावे जकाना रानी साहब कहीं साथ अमल बांध दियो दूर मो भरन આપ કઠોલદાન મેં ચૂરમો ભર દો પાણીરો બાદલો ભર દો તમાકુ માળવન પચપની મસૂદારા બાવડીરા પાણીરો છાંટો લગાવી દો તમાકુ કાકો પીએ ભતીજ ને નસવા જાય ભતીજ પીએ કાકા ને નસવા જાય દોનું જોડે નશો કરે તો નશો બ્રહ્મણ માં ગુડ આવે નશો બ્રહ્મણ માં છે જીણ મહાત્રી તમાકુ તું તાંબા ગીટણી પીએ જો માહીરા લાલ मला बटा विसल करे पत खुटखुट मरे कंगाल तमाकू तू तांबा गिटणी पिए जुमाईरा लाल लाल ओ लाल मला बटा विसल करे पत खुटखुट मरे कंगाल कंगाल के होका तू होकना गाजियो गुजरात न मैं बादल नहीं सरे पच देख सकी बरसान होका तू होकना गाजियो गुजरात न मैं बादल नहीं सरे पच देख सकी बरसान बरसात तो आप रे कही है राजा साहब ने नल सिंह जी की ओके ओ अमल लो हाँ। ओ को पीऊन ने रे कोयला मारे खने तैयार है जो चिलमिया छाड़ दू हाँ। भूख लगी हुआ तो सूर मो लो आहा आ, पानी पीनो है तो पानी लो बादलो हाँ बादलो भरियो पी लो आरोग लो आरोग लो बी टेमरा आप पुंगलगढ़ राजा मन में विचार करियो रानी कोई होशियार है आना है कि रानी होशियार है इतनी चीजा नो साधन हाथे करने भेजो आज तू ए चीजा इतनी लेन आया हाँ लेन आया है क्यों नल सिंह जी थाने बाबा जी आने रावला उठारा मींगना री आने हिंग जीरा पत्तावरी आने कूणो कुन्नियो वेद को साफ साफ आपके हाँ दिराओ आडा राजपूत नरवर कोट नहीं हो हाँ, हाँ। नल सिंह जी देखने बोलिया के राजा साहब मैं नरवर कोट रो राजा हूँ है के इतनी बात पूछो राम धर्मू मैं नरवर कोट की राजधानी रो धनी हूँ हाँ, मणिरा कई बकाने हाँ, हाँ। दुख शुक्रा जोड़ा है देखो दुख पड़े नु आज मैं आप मुंडा के नौकरी ओड़ो बाकी मैं आ हाँ, अलबत तो थोड़ो घणो जानू ही हूं बी टेमरा आप पुंगलगढ़ राजा नल सिंह जी रो हाथ पकड़ चूर में आप बेड़ाई जी में है और क्यों आओ बेड़ा बैठो नरवर कोटरी राजधानी राजा हो जाए थे आज देखो हमारे मुंडा के कई नौकरी हां नौकरी करो आप दोनों भेड़ा बैठा है बी टेमरा हकनाग इंग जी पहाड़ इंग जी डूंगर इंग जी पर्वत इंग जी दोल जी तेज इंग जी होमिंग जी भोमिंग जी वे आया है आयन की ओ नल सिंह राजा ने एक लाद एक पुंगल कटरा ने भेड़ो बैठ गो भेड़ो बैठ गो भाई तो रोजिना मुड़ा के नौकरी करे और हाँ। रो चाक करे मुड़ा के तू हाजरी हाजे और आज भेड़ो बैठ गो एक लाद देख हाँ भी कैमरा पुंगलगढ़ राजा साहब ने आपने री साई री सैडी री दाल छोटी छिड़की छोटी आसमान छिड़की आसमान री ब्रह्मण में ब्रह्मण री त्रिमण में त्रिमण री सोमन में जाती ठेको हाँ, ठेठ रांती डब्बी है बस करी पूंछ पग दिवा काली पीली गिटा टोपी आंधी आई है दिन भाता तामस में सौ आठ डिग्री घुसो कन के तरवाड़ी हाँ, पर राता लाल होगा તરવારી પર હાથ મેલ્યો વિજલ સારી તરવારી એકદમ યાનમું ખીંચી બીજલી લાગે જ્યું હળીકો લાગ્યો લાગ્યો હે પિતા ખોળા પતરા જકાને દસતા હરુ વિપર સાબરો બડોડો ભાઈ આયો તો ઠાઈ પડી કો આ ને વાસા વારી માદણું ધારી અબાટ તરવારી ઢોકે માં તો તોરણ સાત પાઉન્ડ આગો બાબાજી ની ઝોળી મું સંગ જાજુ માતા મેલ હાથરે જાતો પડી હાથરે જાતા પડી आ राजा बाबू है लहर में सुधा जद्दा वे तो है कहीं है तो को भाई न्याल कर देवे न्याल कर देवे कर दे बेटे हमरे भाई ने गए नरवर कोटरा राजा है मैं और पते बिठानिया हूँ मैं कोई डर आने नहीं बिठानिया बैठाने ने को के बैठ गा तो यही राजधानी राजधानी है मारो बत्ती राजधानी है नरवर को हाँ। तो आप बट आए क्यों नल सिंह जी आप रही बाल गोपाल की टाबर टूबर वही क्यों हाँ राजा साहब वही क्यों मारे ही वही आज पा अटे बट हाँ ये सगाई आज पेट में ही पांच को कर लो कनल पिंगल बिखो पड़ियो बटा जो बड़ला हेठ हेठ दिन दिन कोटा थरपिया ढोला मारवन पेट नल पिंगल बिखो पड़ियो बटा जो बड़ला हेठ हेठ दिन दिन कोटा थरपिया पते ढोला मारवन पेट पेट ओ पेट ऐटे सगाया कर ली है पेट में दो नारे आशा ही दो नारे टाबर वेवना हा तो नरवर कोटरा राजा है नरसिंह जी जकारे तो ढोला कंवर जी जल मिला हाँ, हाँ। और पुंगलगढ़ राजा है जकारे मारवण जल मिला ए हाँ, दोनों ने सगया पक्की तय वे ने आपने कोल वचन कर दिया है कोल वचन कर दिया मीनो भी दो मीना भी आ तीन मीना भी आ नहीं ढोला कंवर जी आप जलमगा है अरे मारवण जलमगी है तो मारवाण आप आई नरा नक्तरा जलमी હાલે તો કુંકુરા પગ મંડે હસે જરા ફેફડા ફૂલ મુંડા મું બરસે બરસે હો બરસે ઈ મુકત ઈરે મુકાબले आपरे पुंगलगढ़ी राजधानी रे मायने कोई खूबसूरती थी और अड़ी नहीं आहा ई मापी का तो राज बीज दड़ारो डोको बत्ता कहीं जे दिन बत्ता रात बदे रात बत्ता दिन बदे दिन दूना रात सोगुना ए बदरिया है मोटा वेरिया है तो आपरे कहीं है मोटा विया तो राजा नरवर कोटरा नल सिंह जी देख ने बोलिया राजा साहब बारह वर्ष रे वास्ते मैं आया बारह वर्ष वास्ते आया तो बे आप रे भाई साहब है मारे कौन साहब है दोनों रा ब्याह करो तो अच्छा नक्तर पुग नगतर दिखा लो टाइम सवा कटा लो और आप ब्याह कर सको बाकी चार छह महीना बारह महीना में ब्याह कर दो तो बढ़िया बात है हाँ जो बात रहे माने जितना वर्ष वर्तमान करना है जितना वर्ष हूँ बारह वर्ष रे मायने में पाता बटे पहुंच सका तो मारे बारह वर्ष रो वास्ते माने वरदान दियो हाँ, हाँ। तो राजा पुंगल गडरा आप अचित्र काशी जी पजोड़ा पंडिता ने बुलाया है और कियो महाराज चेत्री चमरी फागना फेरा नि पुनी जैसे कहना उखड़िया में डेरा डेरा और डेरा भाई साहब रा ब्याह करना है बड़ा ठाट पाट हूँ आप देखो कदरा सावा निकले कहीं राशि है कहीं नक्तर कद कहीं निकले जखन आप पूरो विचार बना हाँ, विचार बनार माने भाजो समझार को तो ब्राह्मण मन में विचार करियो दो तीन साल आडा बता देवा तो अपा ने प्रणामनी आते कद आए और आज खावे जो मिठो है अपा तो कहीं बेगा ही फेरा बतावा तो अपा ने आज की की अपा ही लेफड़ा हाँ। तो एक ने बोलिया राजा साहब अपा ने मीनो कांड आडो बताए ने एक मीना ने सवा निकले हाँ। तो राजा साहब देख ने बोलिया की बात को नहीं वो तो कुण होत विचार करे कोई गरीब आदमी व्या करने रुपया पैसा नो की साधन नहीं हुए वो भाई कनू गनायत कनू राटी एटी कटी लावनो पड़े ले बिना की देखनो पड़े अपा ने कने पांच हजार नी दस हजार लगा जा दस हजार नी बीस हजार ला लागी रुपया लगावा जितना ही लगा सक हाँ। तो यह चित्र आप रे सवा दिला दिया है गाना बजाना वेरिया है सकिया मंगल गाय रही आनंद साहब एरिया है और आप कहीं पीटिया ईटिया में हमने ला घी है और घी गाई दिया बड़ा ठाट पाटू और आप रे कहीं है आप रे ब्याह रचा है दियो है तो और नहीं परमात्मा री मैं नरसिंह जी कुंकु पुत्रियाँ जगह जगह दीवी है पुंगल गडरा रजाई ऐ आप रे बम्बई मद्रास कलकत्ता कराची जयपुर जोधपुर कमपुर कानपुर भरतपुर लाहौर बूंदी कोटा जैसलमेर में समदड़ी बालोतरा पोकन फड़ोती रुणचा बिरमलेरा जायल कटोती खियाड़ा कुचरा मुंडवा डीडवाना लाडनू सुजानगढ़ पर्वत सर कई गांव में जगह जगह कुंकुपतियां दी बेल दी है तो आप रे कुंकुपतियां ली है अन्य काशी जी पजोड़ा पंडिता ने बुलाया है और हाथी रे होदे आप बड़ी बंदोली निकल रही है अन्य तोरण बांधन आप सब चीजा तैयार कर ली है दस पीपा राजा के राजा दस पीपा अपने बादल महल में टंकी जगह ने दस पीपा गुड़ा दिया है और पंडिता ने बिठान दिया है भाई साहब ने और कंवर साहब ने पन्नावन बनने वास्ते और परनाला घी चलू वेरिया है एक परनाल तीन से हाथ ऊंची बादल महल बनायो बादल महल जेटो तीन से हाथ तुम नाल चलू करी है तो अरने ब्राह्मण फाटिया पड़ रिया है और